मेरा और तुम सबका परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ताला ही है तुम सब उसी की इबादत करो यही सीधी राह है